मनुष्य को अपने जीवन को किसी व्यवस्था से चलाना चाहिए साधन जितने हैं ये सब के सब व्यावहारिक है साधन परमार्थ तो होते नहीं व्यवहार होते हैं जितना अच्छा हो ज्ञान होने के पहले हो तो बहुत बढ़िया और ज्ञान होने के बाद हो तो बहुत बढ़िया हर हालत में हमारा व्यवहार उत्तम कोटि का होना चाहिए और जो लोग ये समझ के कि अब हमको ज्ञान हो गया चाहे जो करें वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बिगड़ जाते हैं इसलिए सब दमादी संपत्ति से लेकर और जीवन मुक्ति का जो अभ्यास है वहां तक सत्पुरुष को साधन करने में लगे रहना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए स्वयं प्रकाश है ज्ञान तो इसके लिए तो साधन भी नहीं होगा हाँ? साधन साधन नहीं साधन साधन नहीं है तो रहस्य में एक कथा है रात को एक राजा क्या गड़बड़ कर रहा था उसी समय कुछ पक्षी तत्व मस्या नदी का विचार करते हुए आसमान में से उड़े और सुन के उसको ज्ञान हो गया योग वाशिष्ठ में भी कथा है एक साथ सिद्धों ने ज्ञान सुना दिया आसमान में आपस में चर्चा की और उसको ज्ञान हो गया तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा व्यवहार जो है वो बिगड़ जाए लोग यही कहें मैं जोधपुर गया था तो वहाँ एक स्त्री आती थी स्वामी जी सत्संग करने के लिए उम्र भी थोड़ी थी देखने में भी बहुत सुंदर तो थी बातचीत करने में बड़ी निपुण थी तो धीरे धीरे बात करते करते मन में आया कि ये तो वेदांत अच्छा समझती है बहुत ज्यादा आके वो बैठने लगे अपने पास तो वहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज ये यहाँ की वेश्या है यहाँ की वेश्या है ये वेदांत की चर्चा करती है और उसके द्वारा अपने वेश्यापन को समर्थन करती है कहती है कि यही जब तक ऐसा ज्ञान न हो तब तक ज्ञान ही नहीं हो गई बात दस पंद्रह बरस की अब वो हो कि न हो तो ये जब तक शरीर में लोगों के बल रहता है वासना रहती है तब तक वे वासना की पूर्ति के लिए वेदांत का सहारा लेते हैं और वेदांत का सहारा लेकर के बुराई का समर्थन करते हैं असल में वेदांत बुराई का समर्थन करने के दोषों को मिटाने के लिए जब सब परमात्मा है तो हमको चाहिए हमको कुछ चाहिए है अर्थात ये पसंद नहीं है ये पसंद है तो सब परमात्मा है ये ज्ञान हुआ का इसलिए परम परोक्ष हुआ ना अनुभूति चाहिए सब परमात्मा इसका अभिन्न इतनी बात होती है तो सबसे मैं अलग हूँ ज्ञान की पहली कक्षा ही से तो का है ये दूसरी का जब मैं सबसे अभिन्न और सबसे भिन्न हूँ अलग हूँ सबसे तो सबको छोड़ने का सामर्थ्य मुझ में आ गया और जब सब मुझसे अभिन्न है तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है सर्वात्म तो दृष्टि होती है कि चमड़े को चिकना रखने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है तीसरी अवस्था भी तीसरी भी होती है क्यों नहीं होती तीसरी भ्रष्ट की अवस्था होती है एक श्लोक है उसमें भरतहरी शतक भरतहरी शतक भिक्षो मांसन सेवनम प्रपुरुष अरे वो भिखारी तो मान सिखाता है उसने कहा क्या करे महाराज खाते तो है परंतु मजा नहीं आता है तो क्यों किम तेन मध्यम बिना अगर शराब पीने को न हो तो मांस खाने में क्या रखा बोले अच्छा मांस भी खाता है तू मध्य भी पीता है मांस भी खाता है कहा महाराज मध्य मांस तो खाते हैं किंतु द्वारांगन आविष्ह पेशा यदि उसके साथ हो तो और मजा आता है अच्छा विषया भी चाहिए तुमको विषया चाहते तो प्रिया बोले हाँ महाराज है तो बहुत प्यारी तो उसके लिए तो पैसा चाहिए बिना पैसे के बिस्सा कहाँ बनेगा तो बोले कि चलते बिस्सा चाप तो प्रिया तो तो बोले उसके लिए तो धन चाहिए तो धन के बिना बोले कि किन तेन चौर्जम बिना यदि चोरी नहीं करेंगे डाका नहीं डालेंगे मारेंगे नहीं किसी को तो धन कहाँ से मिलेगा इसलिए महाराज कब तुम चोरी भी करते हो तो भ्रष्ट से कान्यावती जब अपनी जगह से गिर गए तो और क्या बाकी रह गया क्या जो चीज होती है वो स्वतः नहीं होती है स्वतः तो केवल ब्रह्म ज्ञान ही होता है अपना ब्रह्म स्वरूप ही स्वतः है और कुछ स्वतः नहीं है गुरु की कृपा के लिए गुरु की अनुकूलता चाहिए माने सेवा करने से गुरु जी अनुकूल कर होते हैं और अनुकूल होकर कृपा करते हैं नहीं तो वो कीड़े पर भी कृपा करें और गाय पर भी कृपा करें दोनों पर उनकी कृपा समान होगी तो विषमता हो जाएगी पक्षपात हो जाएगा इसलिए जो सेवा करता है जो गुरु के अनुकूल आचरण करता है उसके ऊपर गुरु जी की कृपा अपने आप पर रसने लगती है और जो कुछ करते ही नहीं है प्रतिकूल आचरण करता है तो उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं आती है कृपा तो असल में गुरु की सब पर है ही उसको ग्रहण करने का पात्र चाहिए आनंदमय माँ कहा करते थे कि वर्षा तो बहुत हो रही है पिताजी लेकिन बर्तन का मुंह ही उल्टा है तब क्या हो वर्षा होती है बह जाती है कृपा को ग्रहण तो करो गुरु की प्राप्ति के लिए गुरु के लिए व्याकुल हो जाओ जैसे एक शिकारी शिकार के लिए जैसे एक सन्यासी सर्वत त्याग के लिए व्याकुल होता है ऐसी व्याकुलता जीवन में आनी चाहिए गोस्वामी जी ने तो कामे नारी प्यारी जिमी लोभे प्रिय जमी जिमी दाम फिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहराम ऐसी प्रियता भगवान में चाहिए कितनी प्रियता है गुरु की प्राप्ति के लिए और प्रियता में एक बात खास है अपनी बासना छोड़ने के लिए तुम कितने तैयार हो जो अपनी वासना को पूरी करने में लगा है उसको न गुरु मिलेगा न भगवान मिलेंगे न कोई साधना मिलेगी वो तो जब तक बीमार नहीं पड़ेगा तब तक भोग भोगेगा और बीमार पड़ेगा रोगी हो जाएगा समर्थ हो जाएगा सारी हेकड़ी उसकी मिट जाएगी एक न एक दिन उसको पराधीन होना पड़ेगा मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए ये भी आवश्यक है चरित्र शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों में संयम रहना चाहिए और मन में सबके भले की इच्छा रहनी चाहिए और जो भी काम करना हो विवेक पूर्वक करना चाहिए विचार पूर्वक करना चाहिए और अहंकार किसी बात का नहीं करना चाहिए निर्माण ब्रह्म का नहीं करना है ब्रह्म बनाए नहीं बनता है बनाना तो जीवन को पड़ता है चरित्र को बनाओ तो सब कुछ बन जाएगा और चरित्र ही बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया मनुष्य को मनुष्य होने के पहले अपने पशुत्व से मुक्त होना पड़ता है समझ में आ गई से आ गई सुखा दिया कोई रोक टोक नहीं है जो मौज में आई सो पी लिया हाथ पर मुंह पर कोई रोक नहीं है जो मौज में आई सो भूल दिया ये जो सजग दी सपी थी संयम जीवन में नहीं है ये जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और जीवन को आगे बढ़ने का अर्थ है जीवन का सहज हो जाना बस कि किसी भी चीज की जरूरत अपने को व्याकुल न करे हम तो ये करके ही रहेंगे हम तो ये भोग के ही रहेंगे तो मर के रहो व्याकुल न करे या उदय न हो इसके चीज उदय न होना तो मनुष्य के बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें केवल इसी जन्म की वासना नहीं है कुछ कुछ न कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं इसलिए उदय तो हो सकते हैं परंतु उनके वश में नहीं होना चाहिए मौत होती यही ऊर्जा सोध प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवन देगा वेग को सह लेने का सामर्थ्य होना चाहिए और ये कहना कि हमारे मन में ऐसी कोई बात आवे ही नहीं कोई बता दे कि अगले मन में कौन सी बात अगले क्षण में कौन सी बात आने वाली है जब टेलीफोन करके नहीं आती है बात बाहर दे के नहीं आती है कोई खबर पहले सूचना दे के नहीं आती है कि मैं आऊंगी तो उसको रोकने का पहले से कोई उपाय नहीं किया जा सकता आने के बाद ही उसके रोकने का उपाय हो सकता खाने के बाद रोकने का उपाय ये है कि रोकने की आदत बनाई जाए भगवान को क्या पसंद है ना पसंद है इसकी प्रसूति क्या है एक बार भगवान से मिल लिया जाएगा एक महात्मा से मैंने पूछा तो महाराज भगवान मिलेंगे तो क्या होगा इससे क्या बच्चा है तुम्हारा तुम जाके भगवान की किवाड़ी खटखटाओ खटखट कर बार बार खटखट करो ये वो खोल के भीतर ले गए फाटक के तो उसके बाद वो तुमको बहू बना के ब्याह लेते हैं कि बेटा बना लेते हैं कि काटते मारते काटते हैं क्या करते हैं इससे क्या मतलब एक बार तुम भगवान के प्रति समर्पित तो हो जाओ मरने के बाद के लिए तो बासरा रखते हैं तो हम जब मर जाएंगे तो हमारा बनाया ये मंजर रहेगा तो हमारा बनाया ये काम रहेगा इसकी तारीफ होगी कब तक होगी वो भी सैकड़ों बरस तक होगी फिर तो भूल जाएगी अब कौन जानता है कि किस मंदिर को किसने बनाया है जब यहाँ मदन मोहन जी का या गोविंद जी मंदिर बना होगा क्या जय जयकार मची होगी आज क्या दशा है उसकी अक्षरा का रूप एक ही है यश हम आगे के लिए यश चाहते हैं और स्त्री की जो इच्छा है वो पुत्र सुना है धन की जो इच्छा है वो बुद्ध ही सुना है में एक लाइन आती है कि जो पुत्रेष्णा है वही वित्तेषणा है वित्तेषणा है वही लोकेशना है हाँ। लोकेशना के अंतर्गत सबका उनका तीनों का हाँ, वो ऐसे ऐसे कर दिया जा पुत्रेषणा हाँ। सा दारेषणा या दारेषणा सा पुत्रेषणा जो पुत्र को चाहना है वही स्त्री को चाहना है जो स्त्री को चाहना है वही पुत्र को चाहना है फिर इसी तरह से जो स्त्री पुत्र को चाहना है वही धन को चाहना है क्योंकि तो बिना धन के तो ये होते ही नहीं है इसी प्रकार एक दूसरे के साथ ये संबद्ध है जो एक को चाहेगा वो दूसरे को जरूर चाहेगा नंबर पे लोग बैठना सबसे सूक्ष्म है और सबसे देर से जाते हैं तो या तो सब बाधित हो जाए एकदम तब तो सब मिट गई और बाधित नहीं होती है तो इनका मिटना बड़ा मुश्किल है सबका मिटना मुश्किल है क्या समय हो गया बोध व्यक्ति को क्या लाभ जो व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहता है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं अपने व्यक्तित्व को सर्वथा पृथक सत्ता पृथक ज्ञान पृथक आनंद से रहित करके परमात्मा से एक होना चाहता है का अधिकारी है जो व्यक्तित्व माने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को महाराजा स्थूल शरीर को महाराजा बनाना सूक्ष्म शरीर को इंद्रादि देवता बनाना सारा शरीर को निरंतर समाधि में स्थित रखना व्यक्तित्व में परिच्छिन्न में मैं को रखकर और वो अद्वितीय अनंत से एक होना चाहता है इसकी तो कहीं कोई संगति नहीं है वेद में न शास्त्र में न विचार में संबंध भक्ति है मैं भगवान का भगवान मेरे और संबंध के बंधन से मुक्त है ज्ञान सोचना कि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करके व्यक्तिगत रूप से महाराजा के समान शंकराचार्य हो जाएंगे ओ पंडित छत्र चमर और वो तत्व ज्ञान प्राप्त करके इंदिरादी देवताओं के समान या ब्रह्मा विष्णु आदि के समान रहेंगे या नित्य निरंतर अखंड समाधि में रहेंगे जो व्यक्तित्व की पूजा करना चाहता है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं है को ठहरा व्यक्तित्व की पूजा नहीं लेकिन व्यक्तित्व में तो ये बहुत प्रकट होगा मैं के भाव को मिटाने के लिए बोध प्रकट होता है प्रकट होता है ये कहना भी बोध के लिए बौद्ध शब्द नहीं है अबोध की निवृत्ति मात्र ही बोध है बोध विशेष की उत्पत्ति का नाम बोध नहीं है इसलिए बौद्ध प्रकाश जो है उसका अद्वैत वेदांत के साथ कोई संबंध नहीं अज्ञान की निवृत्ति जिस व्यक्ति को उस पर उसका कोई असर पड़े सारे असर मिट जाए सारे असर मिट जाए असर असर प्रभाव जो उसमें असहज आ गया है वो सब का सब निवृत्त हो जाएगा विशेष की उत्पत्ति के लिए तत्व ज्ञान नहीं होता है विशेष के बाद के लिए तत्व ज्ञान होता है तो अबोध से होने वाले सारे प्रभाव मिट गए देखो ये प्रश्न जो है तुम्हारा मैं कोई बीस वर्ष से सुन रहा हूँ तो और असल में यही वो वो बाधा है जो व्यक्तित्व को विशेष बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कुछ बनाना चाहती है कुछ न कुछ विशेषता का आधान करना चाहती है यही बाधा है विशेष क्या हो तभी विशेष विशेष माने भेद विशेष माने द्वैत जिस भूमि का प्रश्न है उस विशेष द्वैत कैसे बना विशेष हाँ? कैसे बनाया विशेष द्वैत कैसे बनाया विशेष शब्द से द्वैत कैसे जिससे अलग कुछ और रह जाए अच्छा शेष रह जाए हाँ ये तो जिस भूमि का प्रश्न है ना उस भूमि से मैं उत्तर दे रहा हूँ यदि इस भूमि को छोड़ दिया जाए तो तब तो हम दूसरा उत्तर देंगे नहीं नहीं यही बताइए बता रहे हैं वही अच्छा बता हाँ। मिटाना विशेष मिटाना हाँ समेटे बिना रागत द्वेष नहीं मिट सकते रागत द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती विशेष की निवृत्ति हुए बिना ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा ये छोटा ब्रह्मा विष्णु महेश में ही आपस में लड़ाई रहेगी कि कौन बड़ा है और निराकार साकार में ही आपस में लड़ाई रहेगी कि कौन बड़ा है और अद्वितीय सद्वितीय में ही लड़ाई रहेगी कि कौन बड़ा है भेद भ्रम की निवृत्ति हुए बिना रागत द्वेश की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती आत्यंतिक निवृत्ति हमारे बाद मतलब हम से मतलब क्या है ये तो आप जाने क्योंकि लोग अपने अपने मन में एक एक शब्द का कोई न कोई अर्थ बैठा के रख लेते हैं तो अब आपने अपने मन में बाघ शब्द का क्या अर्थ बैठाया है बाघ शब्द का अर्थ तुच्छता लेते हैं साधारण से इच्छुक ये जितना विशेष है वो सब का सब विष्णु भगवान जब वृंदा के घर में जाते हैं ब्रह्मा जी जब सरस्वती के पीछे दौड़ते हैं शंकर भगवान जब गोहने के पीछे या ब्रह्मा के पीछे ही त्रिशूल लेके दौड़ते हैं ब्रह्मा का सिर काटने के लिए और इंद्र जब गौतम पत्नी के घर जाते हैं तो क्या बाघ शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता जहाँ काम की अभिव्यक्ति है क्रोध की अभिव्यक्ति है लोभ की अभिव्यक्ति है जो व्याकृत सृष्टि में सुख बुद्धि रखता है उसको उसको तो तुच्छ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ये हम केवल जो औपनिषद अद्वितीय ब्रह्मबोध है उसकी दृष्टि से हम ये बात बोल रहे हैं और संसारी दृष्टि से नहीं संसारी दृष्टि से तो इंद्र देवताओं का राजा है ब्रह्मा सारी सृष्टि का बनाने वाला है शंकर संहार करने वाला है कौन है इनके जैसा इतना बड़ा तो सर्वश्रेष्ठ है परंतु अद्वितीयता के बोध के सामने उत्तम से उत्तम लोग उत्तम से उत्तम व्यक्ति उत्तम से उत्तम अवस्था नरक के समान होते हैं वो अद्वितीय स्थिति है व्यक्तिगत चिकनाई क्या है तीन दिन रहने वाली चीज बच्चा बाल न बनावे चार हफ्ता पेड़ न लगावे शरीर में पांच हफ्ता कपड़ा न धोया जाए संसार के बड़प्पन की क्या दशा हो जाएगी बाद का अर्थ है बाद शब्द का तुच्छता तुच्छता शब्द का भी अर्थ है न उसको अच्छा कह सकते हैं न बुरा कह सकते हैं एक दृष्टि से अच्छा है एक दृष्टि से बुरा है जो नीचे है उसके लिए अच्छा है जो ऊपर है उसके लिए बना किसी को अनिर्वचनीय बोलते हैं दृष्टि भेद से अच्छाई बुराई का फिर और शायद आगे प्रवृत्ति तो नहीं होने की जो उससे अधिक कुछ में फंसा हुआ है उसका राग हो सकता है मैंने सुना एक लंगड़ी लूली काली खलूटी गंदी स्त्री के पेट में बच्चा आ गया तो कोई जासूस थे उनके मन में आया कि हम पता लगावे कि वो कौन ऐसा पुरुष है गंदा जो उस स्त्री के साथ सहवास करना चाहता है अंत में पता लगाते लगाते एक दिन वो किसी सोने गली में से निकला मत देखा जो पनाले में से ऊपर वाले मंजिल के पनाले में से जो गंदा पानी गिर रहा था उसको कोई हथेली पर लेकर चख रहा है उसने कहा बस बस बस पकड़ गया और उसको पकड़ के उसने स्वीकार करवा लिया कि हाँ ये गंदा काम मैंने किया है यथा ही मरिणस्त्रीय यत्र तत्रोपविश्य एवं चरित वृत्तस्तु वृत्त वृत्तशेषम न रक्षती जैसे गंदा कपड़ा पहनने वाला आदमी चाहे जहाँ कहीं गंदगी में बैठ जाता है इसी प्रकार जो एक बार अपने चरित्र की पवित्रता को नष्ट कर देता है तो उसका चरित्र फिर पवित्र नहीं होता है तो वृत्त शेषम न रक्षती अपने शेष वृत्त की भी रक्षा नहीं कर सकती जिसको बुराई में रस आने लगा उसके सामने जब कभी वैसा प्रसंग आएगा उसमें रस का भाव आ जाएगा इसलिए जहां तक हो सके अष्टवर्षम ब्राह्मणम तो तम तो छोटी से छोटी उम्र से ही चरित्र को पवित्र रखने ध्यान रखना चाहिए और यदि हो गया हो किसी कारण से चरित्र गिर गया हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर क्योंकि सब पतितों को पावन बनाने वाला ये भगवान का नाम है इसका आश्रय लेकर अपने को ऊपर उठाना चाहिए यही अवतरण यही है भगवान का जितने नीचे हम गिर गए हैं जितने नीचे कुएं में जितने नीचे नरक में जितनी नीची गंदगी में हम गिर गए हैं वहाँ आकर जो हमें उठा लेता है हमारा परम प्रेमी परम दयालु है मैंने अपनी आंख के सामने देखा एक की पत्नी कुएं में से पानी खींचते समय ठीक मेरे घर के दरवाजे पर कुआ था मिट्टी का मिट्टी का बर्तन कुएं में से पानी खींच रही थी धक्का लगा बर्तन टूट गया बैलेंस गया और खट गिर पड़ी कुएं में उसका पति दूर खेत में था और देख रहा था वहां से दौड़ा आया वो और वो भी गिर गिर पड़ा कूद पड़ा उसी कुएं में और जाकर दोनों हाथ पर उठा लिया पत्नी को फिर लोग इकट्ठे हुए और उसको बांध करके ऊपर निकालो तो भगवान का ये जो अवतरण है हमारी भूमिका में आकर व्याकृत भूमिका में आकर सूर भूमिका में आकर हमारा जो उद्धार करना है यही भगवान का अपनत्व है यही उनका संबंध है इसी से जीव का कल्याण होता है नहीं तो नहीं तो चार और दूत भी धरती भर में नहीं मिलेंगे जो जन्म से यज्ञो कविता संस्कार पूर्वक संहिता अध्ययन पूर्वक और सदाचार का पालन करते हुए अंत तो गत्वा वैराग्यवान होकर परमात्मा के पास पहुंचने के योग्य हो जाए ऐसे दो चार व्यक्ति सृष्टि में हो सकते हैं उनके लिए तत्व ज्ञान सुरक्षित छोड़ दो वे लोग अपने ज्ञान को हाथ पे लिए लिए घूमे असल में सामान्य लोगों के साधारण लोगों के कल्याण के लिए तो ये भगवान का अवतार ये भगवान का नाम जिस नाम भूमि में और रूप भूमि में हम गिरे हुए हैं उस भूमि में जब भगवान नाम रूप आता है तब वो हमारा उद्धार तब वो हमारा कल्याण करता है हम्म? बिना भगवत भक्ति के को पकड़ लेंगे संभव नहीं है भगवान ही जीव को पकड़कर अपने हृदय से लगाते हैं यही उनकी परम प्रकारिता है अलग है भगवान का हो जाना या भगवान को अपना बना लेना ये संबंध जो है ये तो भक्ति है और भगवान से एकता का जो बोध है वो ज्ञान है और जीवन भक्त का रसीला होगा और ज्ञानी का जीवन यदि वो चाहे तो रसीला भी हो सकता है और यदि चाहे तो कटीला भी हो सकता है ज्ञान में वैराग्य रहे ऐसा भी हो सकता है और न रहे ऐसा भी हो सकता है परंतु भक्ति में तो संसार से वैराग्य अवश्य ही रहेगा संसार से भी प्रेम करो और भगवान से भी प्रेम करो ये दोनों नहीं हो सकता प्रेम होगा तो संसारिक से होगा भगवान से होगा इसलिए सच्ची भक्ति में सच्चा वैराग्य है और ज्ञान में कभी वैराग्य रहे कभी न रहे एक दीपक है ज्ञान दीपक है वो कभी बुझ भी सकता है और रह भी सकता है लेकिन भक्ति चिंतामणि है कितनी भी हवा बहे आधी बहे तूफान बहे उसकी कोई हानि नहीं हो सकती है और